नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर कार्यक्रम है एक मुलाकात ज़रूरी है दोस्तों आज इस इंटरव्यू बेस्ड कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्तंभ हैं और पिछले 50 वर्षों से विभिन्न रूपों में सक्रिय हैं ये गीतकार हैं फिल्म निर्माता हैं निर्देशक हैं कवि हैं लेखक हैं और जाने क्या क्या हैं जी हाँ दोस्तों स्वागत करते हैं the one and only Amit Khanna sir जिनका नाम लेते ही जाने कितने गीत कितनी फिल्में आपके जहन में कौन जाती है अमित सर हार्दिक स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया के मंच पर नमस्कार दोस्तों आज आपसे मुखातिब होते हुए मुझे बेहद खुशी है किसी भी लेखक या कलाकार के लिए उसके श्रोता उसके पाठक उसके चाहने वाले ही उसका सबसे सबसे बड़ा सरमाया होते हैं पिछले कई दशकों से आपको और हमारा गहरा संबंध रहा है और आपके ही प्रोत्साहन से आपके ही स्नेह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ पिछले दस दशकों में मुझे कई माध्यम में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे खुशी है कि मैं हर माध्यम में कुछ न कुछ कर पाया हूँ दोस्तों अमित जी के बारे में सब कुछ हम में से अधिकतर लोग जानते ही हैं जो नहीं जानते वो थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं वास्तव में अमित जी के इतने कामों को एक इंटरव्यू में समेट पाना लगभग असंभव सा ही काम है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा अलग अंदाज दे दें तो दोस्तों हम फोकस करेंगे आज के इस एपिसोड में गीतकार अमित खन्ना के कामों पर यानी कि उनके लिखे गीतों पर आज अमित जी अपने लिखे गीतों में से 10 चुने हुए गीतों पर हमसे चर्चा करेंगे यानी कि अमित जी के लिखे 10 कालजयी गीतों के बनने की कहानी हम सब सुनेंगे खुद अमित जी की जुबानी तो अमित सर सबसे पहले कौन से गीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं आप हमें चलिए आज मैं आपको अपने जीवन के उस पहलू के से वाकिफ कराता हूँ जो गीत लेखन से जुड़ा है तो आप सुनिए आज मेरे कुछ लिखे हुए मेरे पसंदीदा गीत सबसे पहले सजीव मैं आपको अपने जीवन का जो प्रथम गीत था मेरे ये फिल्म चलते चलते से है और इसे गाया कोकिल कंठी लता मंगेशकर ने है ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला ही गाना उन्होंने गाया इसका संगीत बप्पी लहरी ने दिया था और ये हुआ ऐसे कि मेरे एक मित्र हैं भीषम कोहली जिनका स्क्रीन नेम विशाल था और उन दिनों मैं नवकेतन में काम कर रहा था देव साहब के साथ तो वो उनके भांजे हैं वो अक्सर आया करते थे ऑफिस हमारे और उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मुझे किसी नए संगीतकार की तलाश है उन दिनों बप्पी बप्पी अपने पिताजी के साथ हमारे दफ्तर आते थे और मुझे उनकी प्रतिभा ने काफ़ी प्रभावित किया था तो मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि आप अभी आ सकते हैं तो अपने पिताजी के साथ वहाँ थोड़ी देर में आने के लिए राज़ी हो गए उन्होंने जैसे ही अपने कुछ तीन चार तैयार किए हुए गीत सुनाए और भीषम को पसंद आए फिर बातों ही बातों में उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप क्यों नहीं ये गीत लिख देते तो वहीं फिर बैठे बैठे हम लोगों ने ये गीत तैयार किया था और शायद आपको पसंद आया होगा इस गीत में लता जी के लिए को पुरस्कार भी मिले थे दोस्तों ये था एक क्लासिक एल्बम का क्लासिक गीत चलते चलते के सभी गीत हम सभी श्रोताओं के लिए कितने प्यारे हैं ये हम सभी जानते हैं तो अमित जी इसके बाद आप अगला गीत जो सुनाने जा रहे हैं वो कौन सी फिल्म से है और वो गीत कौन सा है अगला नगमा जो है वो फिल्म दिल से मेरे दिल का है इस फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया है और इसका भी इसके भी निर्देशक और निर्माता विषम हैं तो ये सिचुएशन जो है बड़ी बा, बहुत बार फिल्मों में आई है ए, किसी एक नायक जो है वो अपनी प्रेमिका की तारीफ करना चाहता है तो मुझे लगा कि ये इस ये सिचुएशन पे बहुत से गीत आए हैं और उनमें से कई इतने लोकप्रिय हुए हैं कि उस ज़रा लीक से हटके कुछ करना चाहिए तो मैंने इसमें प्रेमिका के सौंदर्य उसके रूप के के की उपमाएँ दी हैं और उस बारे में लिखा है उसके बाद तो ये जो स्टाइल है वो कई फिल्मों में आया लेकिन उस वक्त ज़रा नया था आशा है आपने ये गीत सुना होगा पहले भी और नहीं तो आप फिर सुन अब सुनिए और उसका आनंद लीजिए ये गाया है किशोर कुमार ने ये काजल ये जुल्फे ये आंचल हम्म, ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल खूबसूरत सी हो तुम गजल कभी दिल हो कभी धड़कन कभी शोला कभी शबनम तुम ही हो तुम मेरी हमदम ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल खूबसूरत सी हो तुम गजल कभी दिल हो कभी धड़कन कभी शोला कभी शबनम तुम ही हो तुम मेरी हमदम जिंदगी वाह अमित सर क्या खूबसूरत गीत सुनाया आपने वाकई मजा आ गया अमित जी इससे पहले कि आप हमें अपना अपनी पसंद का तीसरा गीत सुनाए एक सवाल जो मेरे चुलबुले मन में आता रहता है उनमें से एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लंबे समय तक नवकेतन का हिस्सा रहे और पंचम दा जैसा कि हम जानते हैं कि वो भी नवकेतन का एक अहम हिस्सा थे लंबे समय तक फिर ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि आप और पंचम का कभी संगीत मिलन नहीं हो पाया आडी बर्मन यानी पंचम से मेरी अच्छी खासी दोस्ती देव साहब की रिकॉर्डिंग के लिए तो हम अक्सर मिला ही करते थे लेकिन वैसे भी मैंने मैं कभी कभी उनसे मिला करता था हमारा एक कॉमन फ्रेंड थे जो पंचम के बहुत घनिष्ठ दोस्त मित्र थे और हम मेरे भी गोगी आनंद जो एक निर्देशक थे और उनके साथ मेरा आना जाना बना रहता था पंचम के घर मुझे याद है एक दिवाली की शाम मैंने बहुत मज़ेदार गुजारी थी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब देश प्रदेश बन रही बननी शुरू हुई और देव साहब ने राजेश रोशन को म्यूज़िक डायरेक्टर चुना और मुझसे कहा कि तुम गीत लिखो तो पंचम के जहन में ये शक हो गया कि शायद मैंने उन्हें हटवा के राजू को रखवाया है ये अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हालांकि हमने कभी इसकी बात नहीं की और एक अजीब सा दूरी आ गई हम दोनों के बीच फिर एक आध मौका आया कि जब हम काम काम कर सके एक फिल्म बल्कि शुरू भी हुई जो गोगी आनंद बना रहे थे लेकिन उसका उसकी वो रुक गई बीच में उसके बाद जब विनोद चोपड़ा ने आ, 1942 लव स्टोरी शुरू की तो वो मेरे पास आए थे डायलॉग और गाने लिखने के लिए और उन्होंने एक नया म्यूज़िक डायरेक्टर लेने की सोचा था जब मैंने जब मैं डायलॉग लिख रहा था तो मैंने विनोद से कहा कि तुम तुम्हारी पिछली फिल्म परिंदा में पंचम ने कितना अच्छा म्यूज़िक दिया था तो तुम उसे क्यों नहीं दे रहे तो वो कहने के नहीं पिछली बार हमें बहुत दिक्कत हुई थी और बहुत वक्त लग गया था तो मैंने कहा घबराओ नहीं मैं बात करूंगा उनसे तो मैंने पंचम से बात किया वो बहुत खुश हो गए उन दिनों उनके पास ज़्यादा काम नहीं था और मुझे कहने लगे चलो आखिर में हम और तुम एक फिल्म साथ में करेंगे मैंने कहा पंचम नहीं तुम्हारे साथ जो मेरी पहली फिल्म होगी वो मैं खुद जो प्रोड्यूस करूँगा वो ही होगी इस बार मैं जावेद साहब से बात करता हूँ जावेद साहब लिखेंगे उनकी तुम्हारी अच्छी जोड़ी है तो फिर मैंने जावेद साहब से भी बात की और फिर और उसकी जो पहली शुरू की दो तीन सिटिंग्स थी मैं जाता था विनोद और जावेद साहब के साथ पंचम के घर पंचम बहुत खुश हुआ उसने मुझे फ़ोन करके शुक्रिया भी अदा किया अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया और मुझे बस मुझे इस बात की खुशी है कि 1942 का म्यूज़िक जो है वो बहुत हिट बहुत ही टैलेंटेड uh, व्यक्ति थे पंचम और मेरी की ही कि मैं उनके साथ काम ना कर सकूँ दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है और इस कार्यक्रम में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं लेजेंडरी अमित खन्ना सर और अमित जी इस कार्यक्रम में आज हमें अपनी पसंद के दस चुने हुए गीत सुनवा रहे हैं और इन गीतों से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी बातें भी हमसे शेयर कर रहे हैं तो अमित जी तीसरा गाना कौन सा है आपकी पसंद की लिस्ट में से तीसरा गाना है मेरी ही निर्मित फिल्म मनपसंद इस फिल्म का निर्देशन बासु चैटर्जी ने किया था और इसमें देवानंद तीना मुनि गिरीश कर्नाड महमूद और सिंपल कपाडिया ने काम किया था ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के नाटक मिलियन पे आधारित थी जिस पे एक बहुत ही विख्यात अंग्रेज़ी फिल्म भी बनी थी माई फेयर लेडी इसमें संगीत राजेश रोशन ने दिया था राजेश मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनके साथ मैंने कई फिल्में की जिनमें जिनका संगीत लोकप्रिय हुआ और ये जो गीत है इसमें भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है वो कुछ नया था उस समय के लिए और आज के लिए भी शायद नया ही हो इसमें जो हिंदी का प्रयोग है वो अपने आप में बहुत सुरीला है और ये आप गीत कम इसे लता जी ने गाया है बहुत ही मीठे अंदाज में और ये शायद उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है सुनिए सुमन सुधा वाह अमित जी एक और बड़ा ही प्यारा मेलोडियस और मधुर गीत सुनवाया आपने अमित सर किशोर कुमार जी के साथ आपका जो एसोसिएशन है वो हर बार कमाल का रिजल्ट लेकर आया है तो मुझे लगता है कि अगला गीत आप जो सुनाने जा रहे हैं वो इसी डेडली कॉम्बिनेशन का होना चाहिए ये अगला गीत है फिल्म देश परदेश का जो नवकेतन की फिल्म थी और इसे देव साहब ने निर्देशित किया था इसमें देव साहब के अलावा टीना मुनिंग की ये पहली फिल्म थी और प्राण अमजद खान श्री राम लागू महमूद बिंदु काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी और इसका इसकी शूटिंग लंदन और बॉम्बे दोनों जगह हुई थी पंजाब में भी हुई थी तो इसकी एक सिचुएशन है जिसमें एक देवर अपनी भाभी को उसके परदेश गए पति के बारे में छेड़ रहा है और होता यूँ है कि फिल्म में उस सिचुएशन के ये थी कि रेडियो पे अंग, मशहूर अंग्रेज़ी गाना यंग वंस बज रहा है उससे प्रेरित होके ये गीत निकलता है उसी धुन से पे आधारित है आगे चल के फिर बदलता है राजेश रोशन का संगीत है नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना बस तेरे दीदार का हो नजरा रहेंगे जो रूठे रूठे रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मूठे करके नखरे तो हम बोलेंगे नहीं आपसे अरे देखो अपना से मुस्कुराना आया है तोहफा दिल हमिद जी पांचवें गीत की तरफ हम बढ़े उससे पहले एक और सवाल कहीं से निकल कर आ रहा है मेरे जहन में <laughs> सोचा पूछ ही लूँ आपसे आपने रेडियो के लिए युवाणी बनाई और बरसों बाद यंग तरंग नाम का वीडियो बनाया जो शायद भारत का पहला म्यूजिक वीडियो था और आज छियासठ साल की उम्र में भी आप उतने ही यंग हैं आखिर इस यंग एनर्जी का राज क्या है मैंने अपने करियर की शुरुआत देवानंद साहब के साथ की थी जिनकी फिलॉसफी ये है कि हमेशा आगे देखो पीछे मुड़ के नहीं देखो कभी निराश ना हो और हमेशा अपने आप को नौजवान लोगों से घिरा रखो और यही धारणा मैंने अपने जीवन में रखी है मैं हमेशा आगे का सोचता हूँ नई नई चीज़ों से अपने आप को वाकिफ कराता रहता हूँ और कभी डिप्रेस नहीं होता बस यही वजह है कि अगर आप अपना नज़रिया जो है वो दूरगामी रखेंगे तो आप उदास नहीं होंगे उदास नहीं होंगे निराश नहीं होंगे तो आप फिर सदा बाहर रहेंगे नौजवान रहेंगे तो अमित सर पांचवा जो गीत आप सुनाने जा रहे हैं ये भी कुछ एक यंग जनरेशन की पसंद का गीत होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है ये बहुत ही चुलबुला गाना है बहुत ही इसमें जवानी की तरंग है ये आज तक सुनाई देता है दिखाई देता है रेडियो पे टीवी पे विज्ञापनों में इसे अमित कुमार और लता जी ने गाया है संगीत राजेश रोशन का है फिल्म है बातों बातों में इसका निर्देशन वासु चैटर्जी ने किया है और पर्दे पे इसे गाया था टीना मुनी और अमोल पालेकर ये बम्बई की लोकल ट्रेन में सेट एक क्रिश्चियन वाता माहौल में फिल्माई गई फिल्म है उसके गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा नजर का उफ क्या असर है तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा गिरता चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है में आज हम सुन रहे हैं हमारे विशेष मेहमान अमित खन्ना सर के लिखे हुए दस चुनिंदा गीतों को और उनसे जुड़ी हुई कुछ यादगार बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं खुद खुद अमित खन्ना सर अब तक हम पांच गीत सुन चुके हैं और दोस्तों अगले पांच गीतों को सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का जो आएगा अगले बुधवार को तो फिलहाल ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं अमित खन्ना सर हमारे साथ हैं और अगले बुधवार को हम मिलेंगे बचे हुए पांच गीतों के साथ तब तक दीजिए इजाज़त नमस्कार